क्या तुम नहीं देखते यकीनन अल्लाह ताला ने तुम्हारे काम में लगा दिया है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है और उसने अपनी खुली और छुपी नेमतें तुम पर पूरी कर दी हैं और लोगों में से कोई है जो अल्लाह ताला के बारे में बगैर किसी इल्म और बगैर किसी हिदायत और बगैर किसी रोशन किताब के झगड़ा करता है